वो आप में लिख दिए यो अयम वरो गूढ़ अनुप्रविष्ट हो क्योंकि जो ये वार है कैसा है ये गूढ़ अत्यंत गहन है और अनुप्रविष्ट हो गूढ़ ही नहीं अनुप्रविष्ट भी है फिर विवेक ने किया अत्यंत छिपा हुआ है इसलिए अन्यम वरो तस्नात्म चिकेता नाम्यम वरो तस्मात नचिकेता इसलिए यह नचिकेता जो वह वर है उससे भिन्न वर को कभी वर्ण नहीं करेगा इतना विवेक और वैराग्य दृढ़ है उसका छठ संपत्ति से संपन्न है समदम से दीक्षा वृद्धि सब कुछ है अतएव जय मोक्षित्व से आत्मज्ञान के प्रति चिपक गया अतो विहाय भाष्यकार का जाता विहाय इसका पीछे एक रहस्य है यो सूत्र भी इसमें लगता है विवेकी के लिए सुख भी दुख रूप ये कहा है परिणाम ताप संस्कार ही गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकी परिणाम ताप संस्कार परिणामात्मक के जितने भी जगत है सत्वरजतम की परिणामात्मक ही है समझ सकता है परिणाम रूपा ये सारा चीज और जन्य जो द्रव्य ताप अतृताप का निवारणार्थ जो उत्पन्न अपने कर्म संबंधी संस्कार ये सारे के सारे के द्वारा जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं गुणवृत्ति विरोधा इनके परस्पर गुणों के और वृत्तियों का पारस्परिक विरोध के कारणों से ये सुख दुख रूपेण जो कुछ भी हमें अनुभव होता है तत्सर्वम तो कमे वही की विवेकी विवेकियों के प्रदेश इस वास्तविक में सब दुख रूप है ऐसा जानता है जो ऐसा विवेकी होगा वह कभी परिणाम ताप और संस्कार के प्रापणीय वस्तुओं से कभी भी रमन नहीं कर सकता बिल्कुल रमित के साथ न कौपित्य विहाय अनित्य ही काम ही प्रलोभनम इसलिए अनित्य कामनाओं को त्याग कर प्रलोभन को त्याग कर यह मया प्रारंभम जो मेरे द्वारा प्राप्त था क्या इदम विचिकित्सनम जिसके मनुष्य के मर जाने के बाद में यह जो संशय का विषय था विचिकित संति नास्तिक नास्ती प्रकार हे पश्चिम प्रकार इस प्रकार से जो संशय किया करते हैं देवृत्ति देवता सांप्राय परलोक विषय आरस परलोक गमनागमन के विषय में महति महत्व निमित्त आत्मनिर्णय विज्ञानम महत्व प्रयोजन है परम निश्चित मोक्ष निमित्त मोक्ष प्रयोजन निमित्त जो आत्मा का निर्णयात्म विज्ञान है यह तो तद ब्रूही कथय नो हमारे प्रति एक देखो यहाँ पर कह रहे न करके अपना का नहीं नया नाम ले रहा मुझे कहो क्योंकि तो यहाँ ये भी जानता है बुरा वास आत्मनिचेश्वरे बहुवचन गुरु नाम आत्मनाम गुरु के नाम हो आत्मा का नाम अपना नाम हो और नाम अतिक्रपण शिक्षा अतिक्रपण का नाम भी कोई मुझ नहीं सभी इनका अपना नाम कभी नहीं लेना गुरु का नाम नहीं लेना अधिक्रपण का नाम नहीं लेना और भी है उत्तरार्ध श्रेष्ठाम गृहणीयात ज्येष्ठ आसक्ति ये उत्तरार्ध श्रेय की कामना करता है वह कभी इनका नाम नहीं लेता है ज्येष्ठ आपत्ति का भी और पत्नी का भी नाम नहीं इसलिए यहाँ का उत्तर उत्तर भारत में रिवाज है कि जब शादी करके आएगी लड़की का नाम दूसरा रख दे जो उसने अपना गोत्र का नाम होता है ना उसको बदल दूसरे नाम से पुकार और नहीं तो उसको बिगाड़ देते पार्वती तो पारू बोले <laughs> आदमी का भी बिगाड़ दिया कृष्ण मूर्ति किट्टू बोल देते किट्टी बोल देते <laughs> तो भगवान के नाम को बिगाड़ दिया <laughs> तो तो कल्लू बोल देंगे पुस्तक है गुरुर नाम आत्मनाम नाम अधिकृपण से श्रेष्ठता मनोग्रणीय ज्येष्ठ आवश्यक हो तो इसमें कहते हैं कि देखो तो इसलिए उन्होंने अपने नाम ही लिया कदर न मैंने हम सब के लिए कहे मेरे लिए ही केवल कहने की जरूरत नहीं है ये चीज ऐसी है स्वार्थ का विषय ही नहीं है क्योंकि आत्मा विषय क्या है और आत्मा सभी में एक है क्योंकि सबकी आत्मा एक है ना कि अलग अलग है एक ही है इसलिए मेरे लिए कहने का मतलब क्या सबके लिए कहना होगा इसे मना अस्मभ्यम देव ब्रूही किम भवना यो यम प्रकृत आत्मशिव करो गुड़ा और क्या अधिक मैं कहूँ जो यह प्रकृत आत्मशक वर है वह गुड़म गुहन दुर्वेचन प्राप्त वह दुर्वेचनता को प्राप्त है मानो क्योंकि अत्यंत कठिनता भाव प्रधान निर्देश किया गया है यथा श्रुतम दुस्साध्य विवेचना यथा होने के बावजूद भी योग व्यक्ति से सुनने के बावजूद भी वह गले उतरता ही नहीं है बात बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी इस पर जो है स्वीकार कर नहीं पा रहे हैं अपने रिजो ने उतार नहीं पा रहे दस आचार्य हो गए कम खोपड़ी वाले थे कोई भेदवादी हो गया कोई द्वैतवादी कोई द्वैतात्वेद का शुद्ध द्वैताद्वैत विशिष्ट अद्वैताद्वैत हो गया कितने प्रकार के जो व्याख्या कर डाले सभी पहले सन्यासी ही थे सभी पहले जो है अद्वैत ही पढ़े तेना कर्म नहीं यह गया भी होगा जनता की दृष्टिकोण से जो है विभिन्न साधकों के दृष्टिकोण से जनता की भला के लिए अलग अलग सीढ़ी बना दी दस वर्ष दस सीढ़ी होंगे नहीं दूसरों के कल्याण के लिए कर दूसरों के कल्याण के लिए करना पड़ता है आप अपना कुछ भी पूजा पाठ कर रहे हैं ये थोड़ी देंगे तुम भी यही पूजा करो ऐसा नहीं होता डॉक्टर स्वयं अंडा मांस में दारू पी रहा है लेकिन आपके लिए कहेगा तुमको टीबी हो रहा है तुम मत पियो तुम कैसे कहोगे डॉक्टर कहेंगे हुआ है तो छोड़ा नहीं हो रहा हमको हेलमेट रहा है वो आप भी भला के लिए वो चाहे किसी स्टेज में क्या कर रहा हो क्या लेन देन है आप ही बनाते हैं हमारी वृत्ति क्या है क्या नहीं है उसे आपको कोई लिंग नहीं आपकी भला के लिए आपकी वृत्ति के अनुसार आपके लिए कोई अच्छी शिक्षा दी जा रही है करने कहा जा रहा है वो आपको दिए समता में आ जाए तब भी बात अलग है ये अनुकरणीय वस्तु जो होता है उसको भी अलग में यदि आदर्श श्रेष्ठ भगवान ने भी कहा है इसीलिए कहा ना विद्वान को अविद्वान के सम्मान ही अनाशित कराते तो बाह्य आचरण के मामले में तो बिल्कुल उसको उसी तरह से रहना पड़ेगा समाज में रहना है तो ताकि जो दूसरे को शिक्षा मिले दूसरा उसका अनुसरण ढंग से करे तो इसलिए यहाँ पर जो बड़े बड़े आचार्य लोग उनका अपनी भले वृत्ति अद्वैत रहा भी है वो हम क्यों ये कहें कि उसे अज्ञानी से नहीं समझे अद्वैत को बड़े आचार्य लोग थे बड़े उपास थे विद्वान थे ज्ञानी थे हम यही कहेंगे इसीलिए वो तो हमारे जैसे अज्ञानी उनके लिए फिर बना दिया विशिष्टा बना दिया किसी ने द्वैताद्वैत बना दिया किसी ने शुद्धा शुद्धाद्वैत कर दिया किसी ने किसी ने शैवाद्वैत लिख दिया किसी ने भेदाभेद नहीं किया किसी ने अचिंत्य भेदावेद लिख दिया ठीक है सब ठीक है कोई गलत नहीं अलग अलग सीढ़ी है तो वहां पर आप रहो उसको पढ़ो उसको समझो चिंतन करो फिर वहां उस सीढ़ी में बताया गया अनुष्ठान उपासनाओं को करोगे अंत जैसे जैसे पवित्र होएगा अपने आप अगला सीढ़ी तुमको दिखाई देगा ये तो वही आपके लिए अंत हो जाएगा कई बार होता है एक ही चाहे एक जन्म क्या कई जन्म उसी सीढ़ी में दूसरी न पड़ता तो सामर्थ्य में क्या करोगे ऐसे आदमी कई होते हैं जिनकी वजह किराए के मकान में काट दे मजबूरी है और कोई कोई होता है शुरू में किराए में आ जाता है फिर बाद उसी मकान को खरीद लेता है मालिक को ही खरीद लिया ऐसे भी तो नहीं है तो ये है कि अपनी अपनी आपकी अपनी मेहनत है सामर्थ्य है क्षमता है प्रवृत्ति है समर्पण है सब निर्भर होता है ना कि अब आगे कैसे बढ़ो इसीलिए ये कोई गलत चीज नहीं है तो उचित है समय प्रकार को समझ के अपनाने के ऊपर निर्भर है इसलिए इनका कहना है देखो दुर्विवेचन प्राप्त हो अनुप्रविष्टा तस्मात वराज अन्यम अविवेकी भी प्रहर्धनीयम अनुति विषय वरम नचिकेता नवृणते मनसा भी श्रुति यानी श्रुति अपनी तरफ से कह रही है क्योंकि जो है अन्यम अविवेक भी प्रार्थनीय जो दूसरा है अविवेक प्रार्थनीय अनित विषय है उसको वचन नचिकेता न वृणीते नस्तत्व नचिकेता वचन था ये अंतिम जो पंक्ति यो यम मरो ये श्रुति अपने तरफ से जोड़ दिया है कोई नचिकेता अपने नाम तो ले नहीं सकता नचिकेता न वर्ण नचिकेता ऐसा वर्ण कभी नहीं कर सकता है ऐसा कौन कह रहा है श्रुदेव वचन श्रुति कह रही अपनी ओर से कि मन के द्वारा भी नचिकेता ऐसी चीजों का वर्णन कर नहीं सकता मनसा भी वचसा जब मन से नहीं होता किम तो वचसा मन से नहीं वर्णन कर सकता तो वाणी से कैसे कहेगा मैं हाँ विजय दे दो इस प्रकार से यहाँ पर जो अधिकारी का स्वरूप है उसका वर्णन अब विद्या आरंभ करेंगे अगली जो है वल्ली आरंभ हो जाएगा यहाँ से इस प्रकार से प्रथम वल्ली पूरा हो जाता है और वैराग्य विवेक वैराग्य अधिकारी प्रकरण भी समाप्त हो गया कर्म उपासना और अधिकारी ये तीनों के तीनों को प्रथम वल्ली में कर दिया गया है शेष दो वल्लियों में विचार होगा विद्या परीक्षा शेष वैराग्य आदि मतों का निर्धारण के अनुकूल जो परीक्षा लेनी थी प्रबोधन के द्वारा परीक्षा ले लिया गया और विद्यार्थी है इसलिए विद्या का योग्य है अर्थात विवेक आदि से संपन्न है यह बात को तो निश्चय करके यमराज जी कहने लगे अन्य श्रेय अन्य कई है नानार्थे पुरुष गुण सिंह तयोश्रेयादिवानस्य साधुर्भवति हीयसे अर्थात् अन्य श्रेयो अन्य श्रेय श्रेय अमृतत्व प्रदान करने वाला मार्ग तो भिन्न है और त्रय अभिवेग प्रदान करने वाला मार्ग भिन्न है दोनों ही अलग अलग मार्ग है प्रयोग है नानार्थ है ये दोनों के दोनों भिन्न भिन्न प्रयोजन वाला है पुरुष वंशनी कहा पुरुषम और निश्चित रूप से वर्णाश्रम आदि धर्मों से विशिष्ट होकर श्रेय प्रेम मार्ग का अवलंबन कर लेने वाला जो कोई भी पुरुष है उस पुरुष को वो बांधते हैं विवेक इन दोनों में से तय श्रेय आदान सत्साधन भगवती श्रेय मार्ग को अपनाने वाला ग्रहण कर लेने वाला जो पुरुष है उसका कल्याण होता है और जो प्रेय को धारण करता है वर्ण करता है यह प्रेत है जो प्रेय का वर्ण करता है अर्थात यदि वह निश्चित रूप से जो पारमार्थिक प्रयोजन है सर्व पुरुषार्थ है उससे वह कथित हो जाता है तो उससे अलग हो जाता है अन्य पृथदेव श्रेय अन्य अर्थ है पृथदेव स्वरूप अलग दोनों ही प्रकार स्वरूपता भी दोनों के साधन के स्वरूप में ही भेद और फल का स्वरूप में भी भेद है श्रेय का अर्थ इसलिए निश्चयतम श्रेय अतिशय प्रशस्त बिना विषय में कह सकती है क्योंकि वो निश्चय का नहीं ज्ञान तो दर्शन पवित्र में विस्तृत है तो भगवान ने भी इस बात को कहा है तो ठीक उसी प्रकार से अंदर उतार की होगा वह अन्य उता मने प्रयोग की अन्य देवा यह भी अलग ही मार्ग है अर्थात उसका साधन स्वरूप भी अलग है फलस्कृत भी फलन है सर्वतः फलतः व्रत भिन्न है प्रेय का व्याख्या प्रियतरम प्रेय में क्योंकि यह संतुष्टि हो रहा है इसलिए प्रियतरम प्रियतरम अपनी प्रेरणा श्रेय की उभे एक उभे निश्चय श्रेय ये दोनों ही जो है साधन या फल रूप में विचार करें तो दोनों के दोनों नाना से भिन्न प्रयोजन भिन्न भिन्न प्रयोजन वाला है सभी ऐसा होते हुए भिन्न भिन्न प्रयोजन वाला होते हुए क्योंकि एक तो अभिनय का क्योंकि प्रयोजन को सिद्ध करने वाला है प्रय और दूसरा निश्चय प्रयोजन को परम प्रसार को सिद्ध करने वाला है श्रेय इसे व्यवस्था होते हुए पुरुषम अधिकृतम वर्णाश्रम आदि विशिष्टम जो पुरुष अधिकृत है वर्ण आश्रम आदि से विशिष्ट अगर भाष्यकार को पता नहीं इतनी जबरदस्ती बोल देते हैं कि बस विचार कर फिर विचार करते रह जाओगी कोई चाल कलयुग में हम लोग कोई इसका अधिकार ही गया न कोई वर्ण है न कोई आश्रम है वर्ण संकर है और आश्रम अतीत हो चुके हैं लेकिन वर्णाधिक और आश्रमाधिक का विचार संप्रदाय बन गए हैं तो ये कहते हैं जो वर्णाश्रम आदि से विशिष्ट है वो भी वो अधिकार वही इनको करेगा चाहे दो में से एक मार्ग और तीसरा मार्ग आप जानते हैं जय समृद्ध इसका मतलब आज तक सभी लोग जय समृद्ध के मार्ग के ही अधिकारी है भले वेदांत कर ले जब खोल ले क्यों ये वर्णाश्रम आदि के अनुसार चलन ही नहीं है जन्म के पूर्व काल से लेकर गर्भाधान से लेकर के सम्यक प्रकार से सर्व संस्कार से संपन्न वर्ण धर्म का पालन करने वाला और आश्रम धर्म का पालन करने वाला वही व्यक्ति श्रेय और मार्ग का अधिकारी भाग्य तक जय संदेश प्रवृत्ति ही अधिकारी अपने तो को तो कहाँ खड़ा करोगे दोनों मार्ग में से धो तो नहीं पाएंगे तो थर्ड मार्ग में डालना पड़ेगा अपने आप भाष्यकार इस पर जोर देते हैं ऐसा व्यक्ति पुरुष को स्त्रीतो बदनी रहा कहा विद्या विद्याभ्याम आत्मकर्त विद्या विद्यते सर्वाप बंधन का मतलब उस तरह का बंधन नहीं तीसरे मार्ग का बंधन का तीसरे कहते हैं काभ्याम विद्या अविद्याभ्याम एक विद्या होता है एक अविद्या होता है इन दौरों के द्वारा आत्मकर्तव्य करना पुरुष यह मेरा कर्तव्य है ऐसे मानकर प्रत्येक पुरुष स्वयं को नियुक्त कर लेता है श्रेय प्रय का ही अभ्युदय अमृतत्वार्थ श्रेय और प्रय इन दोनों अर्थात अभ्युदय और अमृतत्व का पुरुष अनेक प्रत्येक पुरुष या तो श्रेय के द्वारा प्राप्त अमृतत्व का होकर प्रवृत्त हो रहा है अतः प्रेम के द्वारा जो है प्राप्त अभिनय का अर्थ होकर के सत्य पुरुष होता है दोनों एक मार्ग में हर व्यक्ति है चाहे चाहे चंद्र समारोह में रहने वाला भी ऐसा बारम्बार जन्म लेते तो बारम्बार मरते मरते धीरे धीरे धीरे धीरे कोई जन्म नहीं हो जाकर उसका भी अकल सुधर इसलिए वो भी एक गर्व है प्रेम मार्ग नीति है कचुआ चाल है कितनी लेकिन वो भी उचित ही है अनुचित तो है नहीं आलसी खरगोश के तरीका से निरंतर चलने वाला तो कचरा भी सामर्थ्य है इनका प्रमाद है आलस्य इत्यादि है तो ऐसा व्यक्ति होगा वह लक्ष्य करने इसीलिए खरगोश कछुए की कहानी आराम राम है इसके लिए बताया जाता है जो आदमी आराम की अपेक्षा करता है तो सुविधाओं की अपेक्षा करता है प्रमाण करता है के रखता है वह व्यक्ति साधक होते हुए भी वह अपने लक्ष्य साधु का प्रयास नहीं कर इसलिए कहते हैं सर्वा पुरुष सारे दुनिया चाहे कछुए में चाहे तो चल रहा है चाहे निष्ठा पूर्वक तो, तो तीव्र आसन इसका योग के प्रकार में जो कहा उसके अनुसार तुम अत्यंत प्रकार को अपने शोध साधना में निष्ठा को वो कर रहा है कि जैसा भी है लेकिन अब धीरे आरती होगा या अमृतत्व आरती होकर के ही अगर शरीर प्रयोग करते गया साध्यान बद्धे इसलिए ही श्रेष्ठ प्रयोजन की कर्तव्यता से मानो एक करते हैं पुरुष इन दोनों के बंधा हुआ है ऐसे कहा जाता है यद्यपि एक ही पुरुष संबंधी विद्या विद्या स्वरूप यद्यपि ये दोनों के दोनों कहते हैं एक कालावच्छेद एक ही पुरुष के साथ संबंध है दोनों अभी एक साथ नहीं कर सकते प्रयोग भी श्रेय भी दोनों ये क्या कहते सही मार्ग में रहोगे क्या दोनों में से एक मार्ग का द्वारा होने वाला प्रयोजन को ही अपना कर्तव्य मान करके एक एक ही पुरुष संबंधी एक तो विद्या विद्या इनकी एक विद्या रूपा है दूसरा अविद्या रूप तो क्या हो गया दोनों इसमें क्यों नहीं हो सकता लेकिन दोनों के दोनों विरुद्ध परस्पर दो भाव पद विरोधी भाव पदार्थ एक लेकर एक काला अच्छे देना एक व्यक्ति में नहीं हो सकते अतः विद्या और अविद्या दोनों प्रतिरूप वस्तु होने के कारण से प्रकाश और अंधकार के समान सम प्रकाश ही हो विद्या और अविद्या भी दो सौ हो सकते स्वरूप ही अतः एक ही पुरुष के अंदर एक काल हो देशावच्छिन्न एक साथ नहीं हो सकते अन्य अपरित्यागे न एक पुरुष पुरुषेण तो अनुष्ठापन अशक्य उनकी जो है इसलिए अन्य तरह अपरित्यागे किसी एक को त्यागे भी ना एक पुरुष के द्वारा एक कहा तो दोनों का अनुष्ठान करना अशक्त स्वाद असंभव है हित्वा अविद्यारूपम प्रेयश्रेय केवलम आदिदान अशक्ता दोनों में से हित्ता अविद्यारूपम अविद्यारूपम प्रिय अविद्यारूप जो प्रिय है उसको त्याग करके जो व्यक्ति केवल आदान उपादान केवल श्रेय रूपी जो मार्ग है उसको ग्रहण करने वाला उपादान पर्वत ग्रहण करता हुआ जो पुरुष है वह अवश्य ही उसका साधु में शोधन शिवम भवती स्वतः कल्याण गुरु होगा ये तो अधूरदर्शी और जो दूसरा अदूरदर्शी है हाँ, गीता में आया है सात्विक सुख राजसिक सुख और काम हाँ अग्रे विषम अंत भी परिणामों की विषमिव ही हो तो क्या है काम से और तो अग्रे अच्छा है परिणाम वो राज्य और शुरू और अंत में दोनों ही सुख है बीच में केवल विषम दिखता है तो इस तो बात को समस्याएं शुरू के जो प्राप्त सुख को देख करके दौड़ता है अधूरदर्शी और शुरू की कठिनाई को देख करके पीछे हट जाता है वह व्यक्तिगत प्राप्त सुख को प्राप्त अब शुरू में तो साधना में बहुत कठोर साधना करना पड़ता है कठिन तपस्याएं करनी पड़ती है नहीं नहीं भी कर पाते उनको भेज दिया तो जाओ तपस्या करो उसके जाओ कृपा की जाओ वहां जाओ तपस्या करो जाओ ना क्षेत्र तपस्या यहाँ करके अपनी व्यवस्था बना करके जो है तो इतने बात कहने का तात्पर्य इसमें यही है अधूर दर्श वो होता है जो शुरू से सबको चाहता है और परिणाम दुख जो मिलता है वो और दूरदर्शी वो है जो स्वयं मार्ग अपनाने वाला जो शुरू में आने वाले सारी कठिनाई चाहे गैस प्रॉब्लम आ जाए चाहे फीवर प्रॉब्लम आ जाए जो भी प्रॉब्लम सबको झेलते हुए वो लगा रहता है जो भी समस्या हो शारीरिक समस्या खाने पीने की समस्या रहन सहन की समस्या कई तरह की समस्याओं को झेलता हुआ जो आगे चलता है वो वास्तव में

पर जब तो गिर जाता है प्रेम उस असली चीज से तो उस उसको कौन सा पुरुषार्थ हाँ जो परम पुरुषार्थ है पारमार्थिक का प्रयोजन है नित्य है जो उससे वह गिर करके अनित चीज को प्राप्त करता है कौन है वह ऐसा भी मोरा दूर हो रही पूरा तो यह प्रयोग के हर जो पे कहीं ध्यान करता है वर्ण कर लेता है ग्रहण करता है वह इस तरह से पहले स्थिति किया जा रहा है मार्गों के बारे में जिसको नचिकेता ने क्या किया है वास्तव में उसको समझाया जा संसार विस्तर के मार्ग में अरे नचिकेता तुम तो धन्य हो क्योंकि तुमने जो है उस प्रिय मार्ग का त्याग करके श्री मार्ग को इसके लिए सारी भूमिका तो किस किया जा रहा है कर्म उभे अपनी कर्तुम स्वायत्ते पुरुषेण किमर्थम प्रेमय आदत्य लोक है पुरुष ये दोनों स्वतंत्र है पुरुष क्यों अधिकतर लोग प्रिय मार्ग को ही ग्रहण करते हैं श्रेय मार्ग को क्यों नहीं ग्रहण करते किमर्थम आदत्य बाहुल्य लोका अधिकतर यह जीव प्रेम मार्ग को क्यों ग्रहण कर रहे हैं कल भी गीता में यही प्रकृति ज्ञान की भूतानी निग्रह की क्या करते वो अपने ही अनाधिकारी संस्कारों के वजह से ऐसे फंसे पड़े हैं कुछ निकल ही नहीं पा रहे ऐसी वासनाएं बन गई है ऐसे संस्कार बन रहे हैं अब भी जो है सात बजे तो सुबह जैसे सोना चाहता है तो हर चीज की हर पशु की हर जीव जंतु की सारी गलियों को पार करके आए हैं ना सबके संस्कार वासना भविष्य पशुवाद भी इसका विशेष आदि इसलिए कहा जाता है इसी योनि के कारण तंत्र में लिखा आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत्व पशु समानाम सर्वे नराणाम ज्ञान ही है तो कहीं धर्म ही है तो भी धर्म ही है तो अधिको विशेष हो ज्ञान नहीं ना या धर्मे नहीं ना कुछ हार मुद्रा भय महत्व सारी चीजें जो सामान्य क्रियाकलाप है कोटि तो गबरा मकान की पशुओं में भी चिड़ियों में भी है ऐसी ऐसी चिड़िया इतनी सुंदर घोटले बना लेते हैं बिना बिजली का अपने अंदर चूल्हा फिट कर देते हैं और जलते रहते जैसे गजब बनाए देखा तो पक्षी होता है लंबा इधर बनाता है और जब टॉयलेट एक जगह बनी नीचे टॉयलेट होता उसके ऊपर कमरे होते हैं और जुगनी होते हैं तो उसका कंकड़ी कवर कर दो तो सूर्य चंद्रमा का जो प्रकाश आता है उसको पकड़ाए तो उसको उसको उसको करके पूरे अंदर लाइटिंग करते तीन दो ज्ञान ये प्रकाश यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आना चाहिए तो इधर रिफ्लेक्ट कर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर आना चाहिए तो सारे कमरे में प्रकाश कितनी असम दे रखा है कितनी असम हो या तक हमको यहाँ पर एक यहाँ दर्शन लगा दिया ना एक दर्शन वहां लगाया तो इस तरह से उस तरह खोपड़ी खोपड़ी तो मंदिरों में भी लगाना चालू कर दिया आपको तो नहीं का काम लोग खड़ा कर दी इधर इधर गए दर्शन लगा देते तो इधर से हजारों कृष्ण दस हजारों देखते रहे कर्म विशेष देखो तो स्पष्ट तो रोटी हो चाहे कपड़ा हो चाहे मकान हो जो तो सब अपने अपने ढंग से वो लोग पता करते ही ठंडी के दिन में उनके भोजन को देते हुए पता करेगा आग के मकान में ठंडी घुस जाएगी तो उनकी घोसले के अंदर ठंडी नहीं घुस सकती कहाँ कहाँ पे हुई कपड़े के टुकड़े पता क्या गया ठंडी तो इतना कल उनके पास तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये सारे संस्कार इन सभी उन्हीं में रहकर हम लोग को प्राप्त तो उन संस्कारों का दमन करके इन वासनाओं का दमन करके स्वयं मार्ग अपनाने वाले कितने हैं पर्यंत तो पशुवालियों के समान ही देव मार्ग भी आज तक क्यों ऐसे श्रेय से प्रिय से मनुष्य और संप्रीत विभिन्न धीर श्रेयो ही धीरो अभिप्रेय सो गृहते प्रियो मंदो यो क्षेमा गृहते क्योंकि योग क्षेम में लगा रहा अधिकतर लोग योग क्षेम में ही लगे हुए हैं इसी कारण से सब के सब प्रयोग मार्ग को श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य दोनों ही पास में आए आपके मनुष्य के आ इत मैंने आवगता आ इत मैंने आवगता दोनों आए मनुष्य के पास श्रेय भी आ गया श्रेय भी आ गया दोनों आ गए लेकिन विवेक नहीं कर पा रहा है आम आदमी विवेक ही समझ सकता है कौन सा उचित विवेकी स्वेच्छा पूर्वक ब्राह्मण क्या करता है स्वेच्छा पूर्वक गरीबी को स्वीकार करता है स्वेच्छा पूर्वक भिक्षावृत्ति से जीना चाहता है क्यों उसी के माध्यम से वह निश्चिंत होकर शास्त्र चिंतन और अपने स्वरूप चिंतन कि जितना ध्यान लंबा चौड़ा बनाओ उसी का देख रेख में दिमाग चलाओ मकान घोड़े घोड़े दुनिया भर रहेगा गाय पालोगे ये करोगे वो करोगे समझा ले उसी के दिमाग लगे रहना पड़ता ये बीमार हो गया वो हो गया वो हो गया ये खराब हो गया फ्यूज हो गया ये जल गया नहीं तो इसलिए ब्राह्मण के लिए मनुस्मृति कारण याद है लिख दिया कल के रोटी की चिंता भी नहीं होनी चाहिए ऐसा जीना जब कल के रोटी के बारे में पता नहीं चलता हमें नहीं मिलेगा उसे कोई मतलब नहीं किस प्रकार लेकिन आपके सामने भी इसी प्रकार शरीर और प्रे के तौर पर भी लक्ष्मी और दरिद्र आ जाए तो आप कौन सी प्रकरण करोगे तो मेरे को लक्ष्मी चाहिए सब यही कहना कोई दरिद्रा को वर्ण करने को तैयार नहीं है जो वास्तव विवेकी ब्राह्मण होगा तो वैराग्य संपन्न और तो कहेगा लक्ष्मी माँ क्षमा करना तो अपने जा वैकुंठ है विष्णु भय उनके पास रहो मेरे पास आने की जरूरत नहीं मैं तो दीदी को अपनाता हूँ दीदी सबसे प्यारी होती है कौन है दीदी गरीब और जो अविवेकी है तो जाएगा लक्ष्मी को अपने चेष्टा करेगा लक्ष्य बार बार लात मार दे रहेगी फिर करते रहेगा वो तो नाथ नाचती रहती है इसलिए बुजुर्ग ने सोच समझ करके कमल के फूल पर जल के अंदर लक्ष्मी को खड़ा करेंगे तो हवा थोड़ी सी आएंगी तो फूल उस तालाब इधर उधर चला जाता इधर उधर तो फूल गया तो उधर रहने वाला जीव गई इधर उधर इधर किसी के हाथ में टिकती नहीं है पूरी तरह रोड मार देती है और फिर याद नहीं रहती माया किसके किसी ने किसकी लक्ष्मी और विद्या के लिए संपत्ति के लिए क्या किया तो पानी का बीच में है विशाल करके कर बैठे कोई हिला नहीं ज्ञान ऐसी चीज है तो तो कोई भी ज्ञान नहीं जल दे तो भी नहीं जल देखे लक्ष्मी भी वास्तव में हृदय से निर्मल है लेकिन चंचल अचल नहीं है इस फर्क को समझने वाला जो विवेकी है वह चंचल वस्तु मान वस्तु कभी अपनाएगा नहीं वो तो अचल वस्तु को इसलिए कहते तो संपरित्य मैंने विविक्ष उन दोनों को परीक्षा करके सम्य प्रकार से समझना है समझ करके विलक्त भी रहा दोनों को अलग अलग करके जैसे हंस पक्षी दूध और जल में से जल को छोड़ के दूध को अलग अलग करने के बाद धीर क्या करता है गिरो श्रेय भी प्रयास प्रे की अपेक्षा से धीर पुरुष होता है वह श्रेय को ही कभी और से सुवर्ण कर लेता है अभिधा लेकिन जो धीर नहीं है मंद बुद्धि वो क्या करता है योगक्षेम निरंतर योगक्षेम की अपेक्षा रखता है अतएव प्रयोग है क्योंकि अप्राप्त की प्राप्ति करने पुष्टि का पास लंबी जोड़ी होती है हमेशा अज्ञानी मंद बुद्धि वाले के पास निश्चित बहुत लंबी चोरी ये रोज बोला जाए मन को हे मन आज बता तेरे को क्या क्या चाहिए मन झटी की गिराना चालू कर देगा आज मौसम देखेगा अच्छा आज तो बढ़िया पकौड़ी खाने लायक पकौड़ी खाना चाहिए दिल के बताए एक रहता है तो थोड़ा बढ़िया रसगुल्ला मिल जाता है पेट बना दे तो जाओ फिर ये सब गिनेगा खाने पीने की फिर कहेगा बढ़िया रजाई हो जाए ये पता चलता है कि सोने का फर्श ऐसे करके ये टुकड़ा लंबा चौड़ा बना देगा दिन भले दो कौड़ी सोचने को क्या होगा दरिद्रता थोड़ी है तो ये मंद का स्वभाव योग की अपराध की रक्षण अपराध की रक्षण उसमें लगाने का दिन रात लेकिन महात्मा लौट नहीं छोड़ा महानंद महाराज बना रहे झोला ले जाए भंडारों में दूर कर ला करके हिंदू नहीं की कम झोला ग्रहण रात्र देख कर समझ कर गया हूँ तो झोला की सब गिरा लकड़ी थी और चमका

क्या हम बड़ा लाइट बनाएंगे तो हम नहीं जो कोई है तो आप क्या संगठन करूंगा हाँ, हाँ, नाराज नहीं तो अनुमति तो दे दो मेरा विचार ठीक है चला हाँ, स्नान जाते कर तो गंगा जी मैंने गंगा घाट को वो रख देकर अच्छा भी है तो डर का सही सही कहा जाए गंगा जी चाहिए रखेगा हाँ, तो हमने टीम नहीं किया है चाहिए बोला सारा नोट को मैंने चिंता से पकड़ की उसी की तकलीफ के अंदर रख उसी की तकलीफ चिंता करो कोई जगह रखती चाला रखती चाहिए

मैंने कहा भाई तो क्यों ये सब झाड़ भर के परेशान हो रहा है बार बार क्या ला क्या मिला एक चीज हो रहा है क्या हो कहा दिया क्या चीज है तो तो ब्रेक को छुटते भी नहीं हो तो क्या तुम्हारे क्या होगा उसे खो गया परेशान बस वही तो, तो खो गया छूता ने वही खो गया तो अच्छा अरे छूते नहीं खो गया तो जा रही तो ना फर्क क्या पड़ता चला गया ना तुम तो पकड़ते हो नहीं वैसे जी तो चला ही गया तो जा काफी देर परेशान से हमने उसको पर जाके तक मैं महाराज को बोलूंगा इसमें चोरी बोल बोला तुम्हारे जैसे कुछ हो गया अरे महादेव आप ठीक ठीक बैठी और दूसरे की तरफ क्यों आप तो पकड़ते हैं तो छूते नहीं पकड़ते हैं नहीं तो आपने झूठ दिया होगा तो कहीं पर तुम घर चला गया हो जा सकता है कि आप ही इधर से उधर विसर्जन कर दिया होगा एक दिन बताना चाहिए ठीक है देख गया खुद ने कहा जिस पर कदम छा रहे ऊपर झाड़ दिया ये बात ठीक इस पर कोई झाड़ अभी झाड़ के देख दरवाजा बंद कर दिया मैंने कहा भाई क्या क्यों मैं कि करते इधर पढ़ते हो ये स्वयं को चक्कर मुझे जितना जो है चौबीस घंटा खराब हुआ तुम सीधे हाथ बड़ा आराम से रखे रहो ना सारे तरफ तो अच्छी चर्चा नहीं करेगी मैंने तो लेने लगेगा ना छूने लगे पकड़ने लगे तो नहीं करेगी छूट रहेगी ये तो जगह बिगड़ती गई तो अगर चंचला है तो कैसे ही तो करना चाहता है उसमें जो तो चंचला उधर उधर देने गई क्या करोगे आपका क्या नहीं कहीं पर उधर देने चली जाएगी तो क्या करोगे जमा तो, <laughs> तो कहने का मतलब मंदों का यही तो दशा है में आ जाए किसी वेश में आ जाए किसी भी प्रकार का नाटक करे मैं ऐसा छूंगा नहीं वेश बनेगा तो वृत्ति तो अपूर्ण नहीं है योग मंदो प्रयोगिणी से सत्यम स्वायत्त आश्रय बात ठीक कहते हो स्वतंत्रता में वह पूर्ण स्वतंत्र इसमें कोई संशय नहीं है तथा भी साधन तथा बुद्धि नाम गुरु एक रूप है सभी ज्ञान श्री भूत जीव मनुष्य पुरुषम तक प्राप्त कर श्रेष्ठ श्रेष्ठ साधन का फल मंदबुद्धि नाम गुरु एक रूप है सभी साधनता और फलता यहाँ स्पष्ट कर दे साधनता और फलता दोनों ही रूप से ये कहते भिन्न लेकिन मंद बुद्धि नाम दुर्विवेक रूप मंद बुद्धियों के लिए तो दुर्विवेक रूप होने के तरह ज्ञान श्री भूत लगता है दोनों मिले हुए हैं ऐसे लगता है वास्तव में अलग अलग है मेरे सोच चुका है इसलिए कहते हैं ज्ञान श्री भूत मनुष्यम पुरुषम आप इत मैंने प्राप्त कर कौन को श्रेय श्रेय और प्रेम दोनों ही मिली भगत को करके और ऐसे तिलक तो एक दूसरे की तरह हो नहीं सकता इसे दोनों को अपना के चलना पड़ेगा यदि दोनों विपरीत है आगे कहेंगे विसूची है विपरीत है विसूची लेकिन जो मंद बुद्धि वाला है दुर्विवेक वाला है वो इन दोनों प्रसद वस्तुओं को अप्रसद देश समझता और दोनों ही पुरुष के सामने प्राप्त अतो हंस युग अम्भत श्रेय पदार्थ संप्रीत्य सम्यक परिक्रम्य मनस आलोच्य गुरुलाल गवीन तत्करोती कह धीरो हंस जैसे पढ़ा जल से दूध को अलग कर लेता है उसी प्रकार से श्रेय प्रयोग दोनों पदार्थों को संपरिक्रम सम्यक प्रकार से परिक्रम्य अर्थात मन का आलोच मन के द्वारा विचार करके देखता है परीक्ष कर्म कर्मचुतान लोकान निर्वेदनाएं कर्म से अपने अनंत जन्मों के द्वारा उत्पन्न किए गए कर्मों से उत्पन्न इस शरीर इस शरीर से संबंधित लोगों का सम्यक प्रकार से विवेचन करके परीक्षण करके वैराग्य को प्राप्त अर्थात ऐसे वाला चंद्र है गुरु लाभमी विनते गौरव लाभ को समझ रहा है गुरु लाभ में गौरव लाभों को परिणाम को देखते समझता है वो परिणाम अंत लेकिन जो परिणाम है हम इसके जो अंत स्वरूप जिसका ऐसी चीजों को का समझता है और वो क्या करता है विनती पृथक दोनों को अलग अलग कर कौन करता है तो धीर अभिमान ऐसा बुद्धिमान निरीक्षित श्रेय ही श्रेय एवं अभिवृणित है ऐसा विवेचन बाद वह जानता है यदि शुरू में कंटक मार देंगे तो भी श्रेय ही श्रेय एवं अभिवृणित अभी सबको अब लेना है अभिवृणित तो तो अध्ययन के साथ प्रेम की अपेक्षा से तो ज्यादा पूज्य श्रेष्ठ है हाँ। तो मंदा अल्पबुद्धि ही और जो मंद है अल्पबुद्धि वाला है तो विवेक असामर्थ्य पर वेद करने में असमर्थ होने तो कक्षा तो अच्छा हुआ तो उसकी भी कक्षा गई हाथी के पहले मोटा तगड़ा होना चाहता है तंदुरुस्त होना फिर वो तंदुरुस्ती को बनाए रखना इसी में निमित्त कही वह एक पशुपुत्राज लक्षण जो पेड़ है पशुपुत्राज लक्षणों को वह संग्रह करता है उसी को वर्ण करता है पुनः पुनः कहते तो इसमें भी कहने का मतलब है विवेक की जो धीर है यहाँ दो बार शब्द इसका संपरित्य विनिच्य मनसा आलोच्य प्रपत्र मन के द्वारा विचार करेगा ऐसे क्यों करेगा इसमें भी देखना है आशिकानंद जी महाराज प्रदेश एक बार एक बात चल रही थी आप मुर्गे के अनेक गुरुओं को आगे पड़े हैं बनारस में और अन्य भगवान में तो आपको सबसे बढ़िया आचार्य कौन लगे सिखाने वाले और क्यों ये प्रश्न मैं बताऊँ स्वामी रामेश्वर के मुझे मैं आप बताया आई गया तो नहीं अच्छा क्यों लगे जब बनाते थे उनके लिए तो बना देता इंसान देखना और दूसरा क्या है उनकी विशेषता थी रोटी बना के खिलाना पड़ेगा रोटी कहीं एक जगह एक काला हुआ चला एकदम मोटा बनेगा इतना भी असर नहीं है लेकिन चला पता नहीं मैं जंगल में इतना बुद्धि होनी चाहिए कहते एक भी रोटी करते एक छोटा सा भी सारा बंदा जाएगा और तो दस रोटी बनाते थे तो पहले चार से निकल पाते चार खाते थे तो अपने खाते में चला अगर साठ के बारे में आज जो कराया तैयार करके सुनाया नहीं तो दंडा बहुत शिकायत बहुत बड़ा घंटा था तो तो कोई भरोसा नहीं कितना बजे बजेगा जब बजाया तो एक बार बजाने के बाद दूसरे बार बजाना पड़ जाए ये आप लघुशंका शौचालय गए तो बात कोई बात नहीं मेरा पूछ करो वो इतना फिट हो विद्यार्थी के प्रति